मैं कई बार इसको मजाक में कहता हूं कि हमने कार नहीं बदली है कार का ड्राइवर बदल लिया पहले कार का ड्राइवर था लॉर्ड माउंटबेटन हमने उसकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिठा दिया कार वही थी हमारे पास जो लॉर्ड माउंटबेटन छोड़ छोड़कर गया वही कार पर सवारी किया पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चंद्रशेखर ने फिर देवगौड़ा ने इंद्र कुमार गुजराल ने और अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कार तो वही चल रही है कार नहीं बदली सिस्टम नहीं बदला अब सिस्टम नहीं बदलेंगे तो आप किसी को भी ड्राइवर बना के बिठाओगे रिजल्ट वही आएंगे आप उससे कुछ नया अपेक्षा मत करिए आप ये जान लीजिए आप राजीव दीक्षित को भी बिठा दीजिए तो भी यही रिजल्ट आएंगे कोई फर्क नहीं आएगा उसमें सिस्टम नहीं बदलते रिजल्ट वही आएंगे प्रोडक्ट वही निकलेगा मशीन नहीं बदलेंगे आप जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं मान लो आप लेथ मशीन का डिजाइन नहीं बदले आपके प्रोडक्ट का डिजाइन बदलेगा क्या सेम डिजाइन प्रोड्यूस होगा जो 200 साल पहले होता था